सदा भवति नाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति पूर्वतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलभ्यप्रियः तत्त्वभावेन शोभवे शोभयो अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन शोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स्वनिश्रिताः अथमर्ष्यो धृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे हृदय हृदयस्येह ग्रन्थया अथमर्ष्यो मृदो भवति एतावद्यनुशासनम् ओ माद सर्वत्र वर्जित है हमारे एक महात्मा थे वो कहते थे कि सावधान रहना ही साधना है आंख बंद करें कि खुली रखें सोए कि बैठे बोले कि मौन रहें प्रश्न ये नहीं है प्रश्न ये है कि सावधानता है कि नहीं है ये कहना कि क्या करें भूल गया ध्यान नहीं रहा तो ये मामूली मनुष्य अपने जीवन में गलतियों के लिए एक सफाई समझता है कि हमसे जो गलती हो गई उसमें भूल हो गई भूल हो गई तो मानो भूल होना कोई गलती ही नहीं है फूल होना भी एक गलती है हमको याद है एक बार हम एक आदमी को बहुत नाराज हुए गीता प्रश्न से तो हमारे एक परिचित ब्रह्मचारी आए तो दाढ़ी और पांच सात विषय के आचार्य थे विरक्त उनको ठहरा दिया ठीक जगह पर और जो वहाँ भोजन के प्रबंध करने वाले थे ना उनसे कह दिया कि तुम इनको भोजन करा देना रात को अब दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी जब संध्या वंदन करके अपना जब तब समाप्त करके मेरे पास आके बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को भोजन दूध सब ठीक पहुँच गया था तो वो बोले हाँ हाँ हाँ हाँ सब ठीक ही था ऐसे बोले हाँ हाँ सब ठीक ही था तो मैं समझ गया कि नहीं मिला तो।, तो जिनको कहा था उनसे पूछा तो बोले कि अरे हमारा तो ख्याल ही उतर गया भूल हो गई क्या महाराज भूल होना तो स्वभाव ही है और वो अतिथि जो भूखा रह गया है ना उसको खाने को नहीं मिला आप क्या इसमें कोई अपराध नहीं समझते हैं प्रमाद भी अपराध है तो ये जो सत्य की ओर से हमारे जीवन में प्रमाद आ गया है हम क्या सोचते हैं कि सत्य चाहे कुछ भी हो वो कोई रोटी कपड़ा छोड़ ही देगा ये जो सत्य के प्रति प्रमाद है इस प्रमाद का बड़ा भारी दुख फल भोगना पड़ रहा है वो क्या है कि दिन भर में कितने बार तो दुखी हों कितने बार राग होवे दोष द्वेष होवे संसार में फंस जाए ये क्यों फंसते हैं संसार में राग द्वेष क्यों होता है केवल प्रमाद के कारण ऐसा होता है अपनी सुंदरता की ओर से प्रमाद होता है दूसरा दूसरा सुंदर मालूम पड़ता है अपनी स्वच्छता असंगता व्यापकता परिपूर्णता अविनाशिता भूल जाती है उसकी ओर से प्रमाद हो जाता है और संसार सच्चा मालूम पड़ने लगता है यही प्रमाद है इसी का नाम प्रमाद है प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कर्तव्य कदाचना ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद नहीं करना सत्य से क्या पेट भरता है ब्रह्म ज्ञान होने से कौन से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या करना है ब्रह्म ज्ञान को लेकर तो अप्रमत्त तदा भवती जब मनुष्य के अंतकरण में वासनाएं कम होती हैं भोग की प्रवृत्तियां कम होती हैं है? इंद्रिय धारणा स्थिर होती है तब अपने स्वरूप की ओर से प्रमाद नहीं होता तो अप्रमाद होने से ही मनुष्य अपने स्वरूप में स्थिति निष्ठा लाभ करता है इसके लिए फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं है हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है हाँ। इसके लिए शरीर को जड़ बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए ठोंकनी है ना झोंकनी भरने की जरूरत नहीं है लेकिन जो सावधानी है ना सावधानता अब प्रवाह वो होना चाहिए जो वो ही प्रभु आपके श्री रामानुजाचार्य के एक अनुयायी हैं तो वो कहते हैं कि देखो योग पैदा भी होता है और योग मिटता भी है योगो ही प्रभाव हो सावधान क्या सावधान अरे योग करने से होता है और उपेक्षा कर देने से मिट जाता है योगो ही प्रभाव हो योग की उत्पत्ति भी होती है और योग का नाश भी होता है तो यदि प्रमाद करोगे तो तुम्हारी ये सारी एकाग्रता और बुद्धि की सूक्ष्मता और परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता इसका लोप हो जाएगा प्रमाद करोगे तो तो क्योंकि योग में उत्पत्ति और विनाश है इसलिए योग के प्रति सावधान रहना आवश्यक है एक ने कहा कि योग माने साधन तो वही इष्ट की प्राप्ति करवाता है इसलिए प्रभव है और वही अनिष्ट का अप्यय करता है अनिष्ट का प्रलय करता है इसलिए अप्यय है साधना अनुष्ठान से ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार होता है इसलिए काम क्रोध आदि से बचने के लिए और समदमादी साधन संपत्ति को अपने जीवन में रखने के लिए है? और जगत भाव से बचने के लिए ईश्वर भाव को रखने के लिए योग में प्रमाद नहीं करना साधु सावधान है ना यदि तुम्हें ब्रह्म वस्तु की जानकारी अनुभूति प्राप्त करना है तो परिच्छिन्न पदार्थ में फंस जाना ही उसमें प्रतिबंध है शंकराचार्य भगवान ने प्रतिपादन किया है कि एक आदमी के मन में धर्म जानने की इच्छा हुई तो क्या उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा अरे नहीं होगा क्यों कहो तो हाथ कैसे जोड़ना चाहिए है ना सिर कैसे झुकाना चाहिए जबान से क्या बोलना चाहिए हम्म? दान कैसे करना चाहिए होम कैसे करना चाहिए वो तो ये जानना चाहता है तो ये सब ज्ञान उसको होगा उसको अनंत ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा तुम्हारी इच्छा का विषय अनंत है कि परिच्छिन्न है तो संपूर्ण जो टुकड़े टुकड़े पदार्थ दिख रहे हैं स्थान वस्तु समय क्रिया क्रियाफल जो भी नाशवान पदार्थ दिख रहे हैं अगर उसी को तुम जानना चाहते हो और उसी में रहना चाहते हो और उसी में तुम्हारी दिलचस्पी है तो तुमको अनंत का ज्ञान कैसे होगा अनंत का ज्ञान तो उसको होगा कि एक बार जो परिच्छिन्न वस्तु है ना न परिच्छिन्न में मैं होने का ख्याल करे कि मैं कर्ता अधिकारी हूँ न परिच्छिन्न वस्तुओं के भोग की इच्छा होवे न परिच्छिन्न वस्तुओं में इंद्रियों को मिलाने की इच्छा होवे न परिच्छिन्न है न परिच्छिन्न वस्तु की वासना होवे भाई जब अपरिच्छिन्न को जानना है अनंत को जानना है तो अनंत विषयक वासना होनी चाहिए चाहे दोषापनयन रूप वासना होए और चाहे गुणाधान रूप वासना हो चाहे जो जो शांत है जो जो परिच्छिन्न है उसको नेति नेति के द्वारा निषेध करो सब परिच्छिन्न की वासना जाएगी और चाहे अपरिच्छिन्नता की भावना करो तो अपरि तो परिच्छिन्नता की वासना जाएगी तो सावधान परिच्छिन्न को चाहना भी नहीं परिच्छिन्न को करना भी नहीं परिच्छिन्न में फंसना भी नहीं अपने को परिच्छिन्न मानना भी नहीं अप्रमत्त सदा भवते प्रमाद यही है कि जो अपरिच्छिन्न होना चाहता है अपरिच्छिन्न को जानना चाहता है उसकी मनोवृत्ति परिच्छिन्न में लग जाए अपरिच्छिन्न जानने वाले के लिए मरने का डर क्या है एक बार नहीं हजार बार मरेंगे क्योंकि शरीर को परिच्छिन्न है मरने वाला है छूटने वाला है, है? तो अंत तो गतवा हमें को तो अपरिच्छिन्न की प्राप्ति करनी है उसके लिए स्वर्ग वैकुंठ की क्या इच्छा है क्योंकि वे तो परिच्छिन्न है एक स्थान में रहते हैं है? वो तो परिच्छिन्न है तो उसके लिए समाधि की क्या जरूरत है क्योंकि वो तो एक काल काल से परिच्छिन्न है उसके लिए अमृत आदि अमृत आदि पेय पदार्थों की क्या अपेक्षा है क्यों कवे तो परिच्छिन्न है उसके लिए अमृत भी परिच्छिन्न है उसके लिए स्वर्ग वैकुंठ भी परिच्छिन्न है उसके लिए समाधि भी परिच्छिन्न है उसके लिए जो उत्पाद्य है तो परिच्छिन्न है तो सावधान बेटा ये श्रुति कहते हैं प्रमाद नहीं करना अब प्रश्न हुआ कि बुद्धि की चेष्टा शांत होवे तब ब्रह्म ज्ञान होवे और अशांत होवे तो ब्रह्म ज्ञान न होवे ये क्या नियम बना रहे हो बुद्धि की शांति अशांति के साथ चेष्टा की शांति अशांति के साथ ब्रह्म का कोई संबंध है कहो कि जब बुद्धि बिल्कुल उपराम हो जाएगी शाम तब ब्रह्म ज्ञान होगा बोले अरे बाबा वहाँ तो बुद्धि में ग्रहण का कारणत्व ही नहीं रहेगा आखिर अवतार तो चाहिए ना तो समाधि में ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा क्योंकि वहाँ तो वृत्ति ब्रह्माकार नहीं है निरुद्ध है शांत है तो वहाँ ब्रह्म है अति ब्रह्म ऐसा ज्ञान भी कैसे होगा बल्कि वहाँ तो यही कहना पड़ेगा कि बुद्धि नहीं थी है? तो कुछ नहीं था तथ्य जो कैसा ऐसे ही ब्रह्म की उपलब्धि होवे नास्ति ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ये देखो ये जैसे बेटा बाप की गोद में तो बैठे और कहे कि बाप नहीं है है ना तो उसका वचन प्रमाण होगा नहीं होगा तो ये जितना परिच्छिन्न पदार्थ है ना परिच्छिन्न पदार्थ का तो आप अर्थ समझते हैं परिच्छिन्न माने कटा हुआ देश में कटा हुआ काल में कटा हुआ और वस्तु के रूप से कटा हुआ परि माने चारों ओर से और छिन्न माने कटा हुआ छेदन किया हुआ कटा हुआ तो कोई भी चीज कटी हुई होगी तो अपने पूर्ण आधार में होगी कि नहीं अनकटे आधार में ही तो कटी चीज दिखाई पड़ती है जैसे खिड़की की रोशनी में छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं तो आकाश में ही तो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं ना अब यदि वे कण कहने लगे कि आकाश नहीं है यदि वे कण कहने लगे कि हमारा प्रकाशक है ना सूर्य रश्मि नहीं है तो उनका कहना जैसे गलत है वैसे कोई भी देहवान अपने को देह इंद्रिय अंतकरण है ना या परिच्छिन्न अहम के रूप में जानने वाला पुरुष जीव जब ये कहे कि मेरा अधिष्ठान भूत अपरिच्छिन्न नाम की कोई चीज नहीं है तो वैसे ही बोलता है जैसे बेटा बाप की गोद में बैठ करके कहे कि हमारा बाप नहीं है संपूर्ण परिच्छिता अपने अधिष्ठान में ही भागती है संपूर्ण आधेय अपने आधार में ही भागता है संपूर्ण दृश्य अपने प्रकाशक में ही भागता है संपूर्ण इदम मैं में ही भागता है ये पद्धति है इसलिए जिसने कह दिया कि ईश्वर नहीं है उसने ये कहा कि न घर है न मैं हूँ जैसे हम एक मकान में बैठ के बोल रहे हैं ना अब जैसे इस नन्हे से शरीर के लिए ये कहना कि मकान का आकाश नहीं है ये जैसे गलत है ऐसे ही किसी भी परिच्छिन्न पदार्थ का ये कहना कि हमारा आधार हमारा प्रकाशक हमारा अधिष्ठान है ना नहीं है ये उसका कहना गलत है तो फिर बोले फिर वो कैसे मिलेगा भाई तो ये बात जो है ना वो निषेध की प्रधानता से ज्यादा समझाई जाती है हो क्योंकि यह करके बोलने से परिच्छिन्नता तो आई जाती है कैसे आती है जो यह बोल रहा यह शब्द है एक तो पहले यह पद का अर्थ है वो बाहर है फिर यह अर्थ शब्द है वो मुंह में है फिर शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो बुद्धि में है और बुद्धि अपने आप में अध्यस्त है तो यह करके यदि परमात्मा को बताया जाए तो दोष आता है और यह करके परमात्मा को मत बताओ फिर मैं करके बताओ कर मैं करके तो हम बता सकते हैं पर मैं में भी जितना दृश्यांश है ना हाँ, उसका पहले निषेध करो मैं मरता नहीं जीता नहीं सोता नहीं जागता नहीं स्वयं प्रकाश है काल है मैं आता नहीं जाता नहीं किसी देश की गोद में नहीं है है ना स्वयं प्रकाश है देश का भी प्रकाशक है कि मैं जो है वो कोई बिंदु नहीं है कोई बिंदु नहीं है मैं जो है वो तो बिंदु का भी प्रकाशक है अंतकरण बिंदु का अहम बिंदु का भी प्रकाशक है तो पहले निषेध की जरूरत है नेति नेति के द्वारा निषेध करके अपने आप का ही शोधन कर लो मैं कौन बोले तो देखो अब परमात्मा मिलेगा मैं कौन तो मैं की परिच्छिन्नता का निषेध कर देने पर जो अपरिच्छिन्न मैं उसका नाम ब्रह्म और जब अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म जान गए तो परिच्छिता कुछ नहीं अध्यस्त जो वस्तु होती है वो अधिष्ठान से बिल्कुल पृथक नहीं होती है न अधिष्ठान के ऊपर होती है न नीचे होती है न भीतर होती है न बाहर होती है न अधिष्ठान से पहले होती है न पीछे होती है न अधिष्ठान काल में होती है न वो अधिष्ठान है न अधिष्ठान से अतिरिक्त है देखो अध्यस्त जो वस्तु है वो न स्वयं अधिष्ठान है न अधिष्ठान से अतिरिक्त है और न अधिष्ठान से पहले है न पीछे है न अधिष्ठान काल में है न अधिष्ठान के बाहर है न भीतर है, है? और न आगे है न पीछे है न ऊपर है न नीचे है ऐसा जो अधिष्ठान ब्रह्म है उसको कैसे जानना बोले नहीं वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा वाचा मनसा चक्षुषा तीन का निषेध करते हैं का तो हम बोलेंगे तो बोलिए साहब बोलते ही पांच इंद्रिय की उपाधि आपके साथ जुड़ गई तो जिसके साथ बाघ इंद्रिय जुड़ी उसके साथ पूरा अंतकरण जुड़ गया और अंतकरण में और तुम में क्या फर्क है यही असल में विवेक विवेक की आवश्यकता ही यहाँ है कि अंतकरण और मैं ये दोनों जुदा जुदा वो आप माफ करना बच्चू भाई कभी कभी बोलते हैं ना कि माफ करना है? तो तो पहले मैं नहीं बोलता था उनसे सुनने के बाद ही बोलना तो, जब तुम्हारे मैं का हड्डी मांस चाम वाले शरीर से ही तुम्हें ठीक ठीक विवेक नहीं हो रहा तो अंतकरण से विवेक कैसे हो रहे एक वेदांत के बड़े भारी पंडित थे तो स्वामी जी ने सुनाया जानते हैं पंडित जी से हमारा बड़ा मेल जोल है अभी हैं बोला मैं काशी गया था तो मेरे पास आ गए और मैं भी गया था बोला तो जो कोई ये जान ले कि हमारा आत्मा नारायण है जो कोई चाहे जो कोई स्त्री हो शूद्र हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो जो कोई जान ले बस कृपा हो गया ये बात ग्रंथ में आई हो पुराने ग्रंथ में वो पढ़ा रहे थे उन्होंने पोथी पटक दी बोले ये कैसे हो सकता है ज्ञान तो केवल ब्राह्मण को होता है चाहे जो कोई हो ये कैसे लिख दिया हम नहीं पढ़ा <laughs> देखो इसका अभिनिवेश है ब्राह्मणत्व कहाँ है ब्राह्मणत्व है कल्पना और उसका अधिष्ठान है देह देह रूप अधिष्ठान में है देह रूप अधिष्ठान में ब्राह्मणत्व कल्पित है और मनुष्यत्व कहाँ कल्पित है इसी देह रूप अधिष्ठान में अच्छा सन्यासित्व कहाँ कल्पित है इसी देह रूप अधिष्ठान में है? और मैं गोरा हूँ काला हूँ हाँ। ये कहाँ कल्पित है शरीर रूप अधिष्ठान में अब शरीर जब अधिष्ठान हो गया और ब्राह्मणत्व अध्यस्त हो गया उसमें और ये ब्राह्मण पना एक वेदांताचार्य के हृदय में इतना बदमूल है, है कि वो उस ब्राह्मणत्व की ओर से अपनी नजर हटाकर ब्रह्म को नहीं देख सकता कैसे ब्रह्म ज्ञान हो कैसे ब्रह्म ज्ञान हो जब इतनी छोटी चीज इतनी छोटी चीज में तुम फंस गए जब गड्ढे में ही डूबने लगे तो समुद्र क्या पार करोगे गड्ढे में ही डूबने लगे तो समुद्र क्या पार करोगे तो देखो अंतकरण की बात आपको सुनाता हूँ अंतकरण और अहम का विवेक होना आवश्यक है अहम माने आत्मा अहम ब्रह्मास्मी में जो अहम पद का अर्थ है सो वो तो वो क्या है अंतकरण ब्रह्म थोड़ी बोलते हैं ये तो अंतकरण ब्रह्म कैसे बोलेंगे है ना जैसे सालक ग्रामो नारायण जैसे सालक ग्राम को नारायण जिस बुद्धि से बोलेंगे तो किसी ने पूछा कि कहाँ है चतुर्भुज शंख चक्र गदा कहाँ है पीताम्बर कहाँ है वो मंद मंद मुस्कान कहाँ है कभी बेटा तुमको नहीं दिखेगा देखो हम आंख बंद करके देखते हैं तब भी सालक ग्राम है ना हमारी बंद आंख से भी चतुर्भुज दिखता है है ना शंख चक्र गदाधारी दिखता है पीताम्बरधारी दिखता है है ना मुकुटी मुकुटी कुंडली मालूम पड़ता है सालग्राम बोले ये तो सालग्राम में नारायणत्व का अध्यारोप हुआ उपासना के लिए तो वैसे यदि कोई कहे कि अंतकरण ब्रह्म है मनोब्रह्म तो वो तो मन में ब्रह्मत्व का आरोप हुआ उपासना के लिए तो इसमें क्या सुगमता क्या है वो आपको पहले बता देते हैं मनोब्रह्म हमारे तो अन्नम ब्रह्म नाम ब्रह्म प्राण प्राणो ब्रह्म और मनो ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति वेदानाथ सभी श्रुति है तो उसमें से एक को पकड़ के अगर कोई बैठ जाएगा तो उपासक ही होगा हो अन्न ही ब्रह्म है प्राण ही ब्रह्म है मन ही ब्रह्म है विज्ञान ही ब्रह्म है आनंद ही ब्रह्म है एक को पकड़ के कोई बैठ जाएगा तो वो परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न बुद्धि कर रहा है जैसे गोल मटोल ग्राम में चतुर्भुज नारायण की बुद्धि उपासनार्थ है, है? जैसे एक त्रिकोण शिला में बदरी नारायणत्व बुद्धि जा करके आप प्रत्यक्ष कर लो तो मूर्ति तो चंदन से बनाई जाती है हाँ। तो वहाँ जो नर नारायण तो है बद्री नारायण में वो तो एक त्रिकोण शिला त्रिकोण शिला है और उस शिला में नारायण बुद्धि चंदनादि के द्वारा आरोप करके कराई जाती है, है तो शिला तो ऐसे जब ये बात कही जाती है कि मन ब्रह्म है तब मन में ब्रह्मत्व का आरोप होता है और उसका मतलब ये होता है कि जो जो संकल्प आता है सो सो ब्रह्म रूप ही है न उसमें विषय सच्चा है और न कर्ता सच्चा है और संकल्प की जो धारा है वो ज्ञानात्मक होने के कारण ज्ञानात्मक होने के कारण ब्रह्म ही है तुम किसी संकल्प विशेष में आग्रह मत करो कि ये ऐसा हो ये ऐसा न हो है ना तो संकल्प विशेष में जो आग्रह है उसको छुड़ाने के लिए और ब्रह्म के स्वरूप को लखाने के लिए मन में ब्रह्म बुद्धि कराई जाती है आपको ये विवेक की पद्धति बताते हैं अंतकरण उसको कहते हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा लाए हुए ज्ञान को अपने अंदर संस्कार के रूप से रखता है शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान गंध ज्ञान सुख ज्ञान दुख ज्ञान हाँ। बाहर से ज्ञान इकट्ठा करके जो अपने खजाने में रखता है उसका नाम अंतकरण वो ज्ञान कभी व्यक्त रूप से रहते हैं कभी अव्यक्त रूप से रहते हैं पर ये अंतकरण जो है ये बाणिया है बोला हाँ। ये बाणिया है ये रद्दी की टोकरी में से है ना अपने मतलब का माल निकाल के रख लेता है और समय पर उसको बहुत कीमत पर बेचता है समय पर बहुत कीमत पर बेचता है ना अपने मतलब का माल निकाल के रख लेता है और समय पर उसको बहुत कीमत पर बेचता है समय पर बहुत कीमत पर बेचता है हो तो ये अंतकरण जो है ये तो वाणिया है बाहर से प्रत्यक्ष के द्वारा पदार्थों का संस्कार ग्रहण करना अनुमान के द्वारा करना है उपमान के द्वारा अनुपलब्धि के द्वारा अर्थापत्ति के द्वारा अन्य अन्य श्रुत मत प्रमाणों के द्वारा बाहर से वस्तु का संस्कार ग्रहण करके अपने अंदर इकट्ठा करने वाला ये अंतकरण है और आत्मा क्या है तो आत्मा ग्रहण करने वाला नहीं है असंग स्वयं प्रकाश वो अंतकरण का प्रकाशक मात्र है अंतकरण का वो प्रकाशक मात्र है ज्ञान का ज्ञान का ग्रहीता नहीं है वो अनुग्राहक नहीं है ग्राहक नहीं है है ना ये जो हम आंख से कान से नाक से जीव से संसार के व्यवहार से जो हम टुकड़े टुकड़े या अनुभव का संग्रह करते हैं संस्कार का संग्रह करते हैं ये संस्कार का संग्रह हम नहीं करते ये तो अंतकरण करता है तो हम तो केवल प्रकाशक मात्र हैं प्रकाश देना अपना सपने स्वरूप का काम समझो और संसार से अनुभव लेना ये अंतकरण का काम समझो तो ये प्रकाश देना जैसे सूर्य प्रकाश देता है सूर्य तो प्रकाश देता है है ना और सीता सीता क्या करता है केवल परछाई को पकड़ता है तो सीसा जो है वो अंतकरण है और सूर्य की रोशनी ये प्रकाश है ये तो जड़ का दृष्टांत हुआ है ना स्वप्न में संस्कार जितने हैं वो अंतकरण में हैं और अंतकरण के सुसुक्ति को भी और अंतकरण में जो संस्कार हैं उनकी अभिव्यक्ति को भी जो प्रकाशित करने वाला है तो अपना आप आए स्वयं प्रकाश तो आत्मा स्वयं प्रकाश है और अंतकरण ग्राहक है ग्राहक तो ये अच्छा ग्रहण करे कि बुरा ग्रहण करे इसकी जिम्मेवारी आत्मा पर नहीं है वो है ना जैसे यहाँ आपके घर में बिजली के तार की लाइन खराब हो जाए या बल्ब खराब हो जाए बल्ब खराब हो जाए या पंखा खराब हो जाए या खटखट आवाज आने लगे तो इसकी जिम्मेवारी पावर हाउस पर है इसकी जिम्मेवारी बिजली पर नहीं है ये तो आपकी मशीन खराब हुई तो एक महात्मा कहते थे बोले उनको गुस्सा आया हमने कहा गुस्सा आया उन्होंने भी कहा गुस्सा आया बोले कि जैसे कोई चोर चोरी करे तो उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है चोर ने अपने संस्कार और वासना के अनुसार चोरी की एक मच्छर ने अपने संस्कार और वासना के अनुसार किसी को काट लिया गाय ने दूध दिया इनका संबंध पंचभूत से कोई है पंचभूत से इसका कोई भी संबंध है बिच्छू ने डंक मारा सांप ने काट लिया गाय ने दूध दिया मच्छर ने डंक मारा है? चोर ने चोरी की और पुलिस ने उसको पकड़ा और मजिस्ट्रेट ने उसको सजा दी इसका संबंध पंचभूत के साथ कुछ भी है कुछ भी नहीं है बोले जैसे एक आदमी चोर है कोई भी और उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार इस अंतकरण के समाहित अथवा विक्षेप विक्षिप्त होने पर उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इसलिए दुनिया से संस्कार बटोरे हैं और संस्कार जब व्यक्त होते हैं तब उनके अनुसार काम करता है कि हम तो सूर्य के प्रकाश के समान धरती के समान जल के समान अग्नि के समान वायु के समान आकाश के समान सूर्य के समान हम तो बिल्कुल असंग हैं स्वयं प्रकाश ग्रहण करना हमारा काम नहीं है प्रकाशना हमारा काम है चमकना हमारा काम है अगर मच्छर किसी को काटता है तो वो मच्छरवत जो मनुष्य है मनुष्य क्योंकि पाप पूर्ण मनुष्य को ही लगते हैं वो मच्छर को नहीं लगते हैं ये तो आप जानते ही होंगे यदि धर्म के संबंध में कभी कोई अनुसंधान किया होगा शेर अगर आदमी को खा जाए तो शेर को पाप नहीं लगता अच्छा गाय जो दूध देती है उसका पुण्य भी गाय को नहीं होता अब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका पुण्य नहीं होता हो <laughs> ये धर्म पुण्य की बात नहीं है पाप पुण्य जो है ये केवल मनुष्य जाति में होते हैं मानुषे सु महाराजो धर्मा धर्म प्रवर्तता भीष्म भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे महाराज ये धर्म अधर्म का जो विभाग है ये केवल मनुष्य जाति में है ये पशु पक्षी आदि जाति में नहीं है तो जिसने मनुष्योचित ज्ञान के द्वारा संस्कार ग्रहण करके अपने अंदर रखा है बोले जैसे चोर के अंतकरण के साथ हमारा कोई संबंध नहीं वैसे इस अंतकरण के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है ये करता है अंतकरण अपने को कर्ता मानता है कि भोक्ता मानता है कि नारकी मानता है कि स्वर्गीय मानता है कि धर्मात्मा मानता है, है? कि ये अपने को उपासक मानता है कि अपने को जोगी मानता है कि अपने को ज्ञानी मानता है ये ज्ञानी भी संतकरण की मान्यता है इसकी मान्यता के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हम ये सब कुछ नहीं है हाँ, हम न धर्मात्मा है न उपासक है न जोगी है न ज्ञानी है, है न जीवन मुक्त है बता न जीवन मुक्त है न संत है न असंत है न सदवृत्त है न दुर्वृत्त है हाँ। यम न संतम न संतम तो न अस्तुतम न विद्वान है न मूर्ख है विद्वान हो तो अंतकरण मूर्ख हो तो अंतकरण जीवन मुक्त हो तो अंतकरण है ना वासनावान हो तो अंतकरण विक्षिप्त हो तो अंतकरण समाधिस्थ हो तो अंतकरण तो कई लोगों को ऐसा ख्याल होता है कि जैसे हम नोट पहचानते हैं कि ये दस रुपए का और ये सौ रुपए का और एक रुपए का इसी तरह से है ना हम ब्रह्म को भी पहचान लेंगे कि ये ब्रह्म है कि यह ब्रह्म है कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है तो श्रुति कहती है कि बाबू ये जो तुम्हारा ख्याल बन गया ना कि हम सनासी से ब्रह्म को पकड़ेंगे है ना तलवार से ब्रह्म को काटेंगे चिमटे से ब्रह्म को उठा लेंगे ये सब ये आंख है ना आंख है आंख है मन है ये सब क्या ही तो है ना ये नहीं वह नहीं वह वाचान मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा ये सब चिमटे हैं कौन से वाणी मन और नेत्र ये चिमटे हैं ये सनासी है है ना ये औजार हैं, ये दूरबीन है ये कुर्दबीन है ये औजार हैं, इनसे ब्रह्म नहीं पकड़ा जाता अंतकरण शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके अभाव और इनसे होने वाले सुख दुख इन्हीं को अंतकरण केवल पकड़ता है है ना किन्हीं को इंद्रियों के द्वारा पकड़ता है और किन्हीं का जो संस्कार पहले से पड़ा हुआ है उन्हीं को उभार के मन में देख लेता है तो जो मन में देखता है उसका नाम सपना जो बाहर देखता है उसका नाम जागृत और जब दोनों को नहीं देखता है तब उसका नाम सुषुप्ति ये सब है अंतकरण का खेल तो नई वो वाचा न मनसा वाणी से यदि ब्रह्म का निरूपण करना चाहो तो नहीं कर सकते क्यों वाणी जो है वो कैसे कैसी वस्तु को बताती है आपको मालूम पड़ना चाहिए बोले मतलब आपका लिंग भेद बता देगी क्या ये स्त्री है ये पुरुष है इसका नाम है ना लैंगिक वर्णन है हो लिंग भेद इसको बोलते हैं ये पुरुष ये स्त्री तो जहाँ लिंग भेद होगा वहाँ है ना वहाँ शब्द की प्रवृत्ति होगी बोले जाति बता देगा शब्द क्या का ये मनुष्य है ये पशु है ये जाति हो हाँ। जाति मनुष्य पशु है मनुष्य है ये पशु है ये जाति है जाति बता देगा अरे भाई चिन्ह देख करके ये हिंदू है ये मुसलमान है संप्रदाय बता देगा है तो जाति से किसी को बतावेगा किसी को गुण से बतावेगा गुण क्या ये काला है ये गोरा है ये गुण हो गया कि ये बड़ा सत्पुरुष है कि ये कुपुरुष है ये श्रद्धा की बात हो गई ये महात्मापन दुरात्मापन नहीं दिखता है हो क्रिया ही दिखती है हाँ, जाति गुण क्रिया का ये ड्राइवर है ये रसोईया है तो जहाँ क्रिया होगी वहाँ शब्द एक क्रिया से ड्राइवर को बतावेगा एक क्रिया से रसोई को बतावेगा है? जहाँ गुण होगा वहाँ एक गुण से गोरे को एक गुण से काले को बतावेगा हाँ, और व्यवहार में किसी चीज का नाम ही पड़ गया हो है ना हाँ, जिनका नाम सदामी मल होना चाहिए उनका नाम करोड़ी मल और जिनका मन मल नाम करोड़ी मल होना चाहिए उनका नाम सदामी मल है ना गरीब को करोड़ी मल बोलते हैं और धनी का नाम सदामी मल तो ये नाम हुआ ना इसका नाम रूढ़ी है रूढ़ी से बता देगा जाति से गुण से क्रिया से रूढ़ी से और संबंध से बतावेगा हाँ, ये जो मेन साहब है ना इनके पति ये हैं हैं कई श्रीमान की पत्नी ये हैं ये संबंध हुआ बेटा बाप तो ब्रह्म में न जाति है न गुण है न क्रिया है न संबंध है न रूढ़ी है तो बाचा हम शब्द से बोल करके वाणी से बोल करके यदि ब्रह्म को लिखाना चाहें अस्मात शब्दादयम अर्थो बोधव्य हम ये शब्द जो बोलते हैं इसका ये अर्थ कैसे संबंध ग्रहण होगा जाति नहीं क्रिया नहीं रूढ़ी नहीं संबंध नहीं तो बोले ऐसा बोलो मत जरा सुनो हाँ बोल बोल के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है सुन सुन के ब्रह्म ज्ञान होता है नहीं वो भाषा न मनसा बोले आओ मन से एक अंबार खड़ा कर रहे क्या वो बड़ा भारी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर लंबाई चौड़ाई में भरा हुआ और वो सृष्टि के आदि काल और अंत काल तक है ना रहने वाला है और ये जितनी अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं सब में एक मैं सोच रहा हूँ इसी का नाम ब्रह्म है किसका नाम ब्रह्म है कि जो सृष्टि के आदि से अंत तक आदि के पहले भी था और अंत के बाद भी रहता है तो वो और जो पूरा पश्चिम और छोर जिसमें नहीं है सो और जिसमें मैं तुम यह हुआ नहीं है सो ये सब क्या है बोले ब्रह्म है बोले ये ब्रह्म नहीं है ब्रह्म की कल्पना है बोला इस ये कल्पना जिस मन में आ रही है ये तो तुमने वेदांत श्रवण किया है ना तो तुम्हारे मन ने इधर उधर से भानुमती का कुड़वा कुनवा इकट्ठा किया है बोला तुम्हारे मन ने सुन सुन के सुन सुन के है ना एक अपने मन में संस्कार भर लिए हैं और उन्हीं को तुम दोहराते हो बोलते हो इसका नाम ब्रह्म है, है? क्या मन के घेरे में ब्रह्म आ गया फिर आंख की तो चर्चा ही मत करो आंख से ब्रह्म को देखते हैं तो बोले कि अच्छा ब्रह्म कहाँ मिलेगा देखो शंकर बास वाला और हम बाद में सुना देंगे आपको हम जो सुनाते हैं उस पर आप ध्यान दो बोले अस्तीति बुर्वता पुरुषात अन्यत्र कथम तदुपलभ्य है जो अस्थि अस्थि बोल रहा है, है उस वक्ता पुरुष से अलग है ना जो बाघ का मतलब अब्रुवता से बाघ का अधिष्ठान मन का अधिष्ठान और चक्षु का अधिष्ठान और बाघ का प्रकाशक मन का प्रकाशक और चक्षु का प्रकाशक ये जो दृष्टा पुरुष है ना अस्थिति ब्रुवता व्यवहारता जो अस्ति अस्ति अस्ति ब्रह्म अस्ति ब्रह्म अस्ति ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म बोले जिसको है कहा जा रहा है तो ब्रह्म नहीं है तो तब कौन ब्रह्म है तो ब्रुवत अन्यत्र कथन तदुपलभ्य थे अरे जो बोलने वाला है उससे जुदा भला उस ब्रह्म की उपलब्धि कैसे होगी तुम अपने से अलग ब्रह्म का साक्षात्कार चाहते हो अपने से अलग ब्रह्म कभी नहीं मिलेगा ये आक्षेप है ये प्रश्न नहीं है आक्षेप है मंत्र मंत्र बिल्कुल है ना अब निरावरण होके अपना अर्थ बता रहा है अस्तीति ब्रुवत बागुपाधिकात आत्मन अन्यत्र कथम तदुपलभ्य थे ये जो बोलने वाला है ये जो बोल रहा है इस बोलने वाले मैं से अलग उस ब्रह्म की उपलब्धि कैसे हो सकती है है ना? अन्य देश में अन्य काल में अन्य वस्तु के रूप में उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती ये कहने का अभिप्राय है और और टीका का अर्थ बाद में है ना पहले इतने ही इतने ध्यान में लो क्योंकि टीकाकार तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं है ना मंत्र उनके सामने कैसे निरावरण हुआ ये हमको मालूम नहीं मंत्र ने क्या अर्थ दिया हो तो कल्प वृक्ष है क्योंकि एक व्यक्ति को तो इस मंत्र ने ये अर्थ दिया है? एक बड़े विद्वान हैं बोला वो कहते हैं कि अस्सी अस्सी इसी ध्रुवता अन्यत्र ये जो लोग श्रद्धा से कहते हैं कि परमेश्वर है परमेश्वर है परमेश्वर है इसके अलावा ईश्वर की उपलब्धि और कहाँ होगी माने ईश्वर तो एक श्रद्धा है ईश्वर तो एक भावना है ईश्वर तो एक मान्यता है इसके सिवाय कोई अनुभव के रूप में ईश्वर कहाँ से आवेगा देखो आपको इसी इसी शब्द का अर्थ सुनाया हो जिसका पहले सुनाया था पहले ये सुनाया था कि मैं से अलग ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकते और दूसरा ये सुनाया कि ये कथन मात्र जो ब्रह्म है है ना ये केवल कथन मात्र के सिवाय और कहा मिलेगा वो तो न है तो रहते थे उत्तर काशी में जिंदगी भर तपस्या की अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे लेकिन ये तो दूसरे दूसरे संस्कार मैंने बनाया इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि आप परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं तो वाणी से बोल के पुकारो मत वो तो तुम्हारा बेटा नहीं है कि वो मोहन वो सोहन है ना यहाँ खड़ाऊ तो ले आ वो तुम्हारे पुकारने से आने वाला नहीं है तुम कहो कि हम अपनी दृष्टि शक्ति से विषय बनाकर उसको दृश्य कर लेंगे का होने वाला नहीं न चक्षुषा बोले मन से ध्यान कर लेंगे का नहीं तो बोले तब वो कौन है कहो तुम हो तो नहीं नहीं मुझसे अलग है तो भले मानुष जो तुमसे अलग होगा वो पूर्ण होगा और तो स्वतंत्र होगा पूर्ण क्यों नहीं होगा तुमसे अलग होगा तो पूर्ण नहीं होगा क्योंकि आधे तुम आधे वो बड़े एक चौथाई तुम है ना एक चौथाई तुम लेकिन तीन चौथाई वो तब भी वो कहीं पूरा होगा वो भी रहे और तुम भी रहे तो वो पूरा हो न होगा न तुम पूरा होगा न वह पूरा न तुम पूरे क्यों हाँ, तो तुम अपने से अलग उसको देखना चाहते हो तो काट के देखना चाहते हो श्रुति कहती है कि अपने से अलग नहीं देख सकते अलग देश में अलग काल में अलग वस्तु के रूप में तुम्हारे मैं की अतिरिक्त मैं की अतिरिक्त अतिथि ब्रुवत पुरुषात अन्यत्र हाँ, ये बोलने वाला जो वक्ता है विज्ञाता विज्ञाता है अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री जो दृश्य नहीं है देख रहा है अंतकरण रूप दृश्य मन वाणी और चक्षु रूप दृश्य भी नहीं है अंतकरण रूप दृश्य का कारण भी नहीं है केवल प्रकाशक है केवल दृष्टा है उस दृष्टा की हाँ, दृष्टा को समझाने के लिए उपनिषद नहीं है दृष्टा को ब्रह्म समझाने के लिए उपनिषद है दृष्टा तो नास्तिक भी समझ सकता है हाँ, दृष्टा तो जुक्ति वाला भी समझ सकता है दृष्टा तो बुद्धिमान पुरुष भी समझ सकता है इसके लिए तो वेदांत की पोथी लिखने की एक पोथी लिखने की जरूरत नहीं थी वेदांत अज्ञात ज्ञापन करने के लिए है दृष्टा को ब्रह्म बताने के लिए है लेकिन जब तुम मैं के सिवाय दूसरे में ढूंढने जाते हो ब्रह्म को है तब तो श्रुति आक्षेप करती है कथन तदुपलब्ध थे कैसे मिलेगा वो तुमको जब तुम मैं से जुदा समझ रहे हो उसको तो उसमें चक्षु लगाने की जरूरत नहीं आंख मत लगाओ मन से ध्यान भी मत करो वाणी से बोलो भी मत वाणी से बोलो मत माने जप मत करो है ना और खुली आंख से प्रपंच में ब्रह्म की भावना मत करो खुली आंख से ये ब्रह्म है है ना भावना के द्वारा चालक ग्राम में नारायण की तरह इसमें प्रपंच में ब्रह्मत्व का आरोप मत करो पहले ब्रह्म को जानो फिर प्रपंच अपने आप ही ब्रह्म है अच्छा तो आरोप मत करो चालक ग्राम में चतुर्भुज की तरह वो तो सिमो मानव का वो ये दृष्टांत वेदांति लोग ये देते हैं वो अरे ये भाई ये ये ब्रह्मचारी तो सिंह सिंह है सिंह है बोले तो मनुष्य है सिंह नहीं है तो बोले देखो सकल में तो ये मनुष्य है लेकिन गुण में सिंह है बात हो ये हुआ ना है? ऐसे यदि कोई ऐसे बोलेगा कि ये प्रपंच ब्रह्म है तो उसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि देखने में तो नासवान है लेकिन तत्व से अविनाशी है अविनाशी को बिना देखे ही प्रपंच में अविनाशी पने का आरोप करना पड़ेगा इसलिए ये युक्ति भी ठीक नहीं है तब बोले पहले सबको न्यारा करो सबको न्यारा करो वो मत नहीं है मनता है वो ज्ञात नहीं है ज्ञाता है वो दृश्य नहीं है दृष्टा है और इस दृष्टा को मन वाणी आदि से नहीं जाना जाता वेदांत कहता है तत्वमसी अरे वो दृष्टा तो ब्रह्म है ये बात वेदांत से मालूम पड़ती है तो अतिथि द्रुवतो नेत्र कथन तदुपलब्ध है अब आओ आपको नारायण शंकराचार्य भगवान की युक्ति सुनाता हूँ क्या युक्ति देते हैं वो कहते हैं कि जैसे घड़ा है और फूट जाए तो क्या आपको शुद्ध नास्ती प्रत्यय हुआ तो घड़े को मारा गंगा फूट गया बोले घटो ना आपसे हो गया <clears throat> तो वो जो उसके सीकरे हैं वो हैं अस्थि बुद्धि वहां समाप्त नहीं होगी घड़ा फूट गया लेकिन अस्थि बुद्धि समाप्त नहीं होगी और बोले कि फिर क्या रहेगा बोले टुकड़े को भी हम तोड़ देते हैं बोले टुकड़े को तोड़ दो तब भी मृतिका है ये बुद्धि आपकी समाप्त नहीं होगी तो बोले इस प्रकार यदि कार्य को कारण में लय करते जाएं तो मिट्टी नहीं है पर पानी है ये बुद्धि बच जाएगी पानी में अस्तित्व तो बुद्धि बच जाएगी कब तो पानी नहीं है पर तेज है ये बुद्धि बचेगी कब तो तेज नहीं है पर वायु है ये बुद्धि बचेगी कब तो वायु नहीं है पर आकाश है ये बुद्धि बचेगी है बोले कह रहे तुम बुद्धि बुद्धि करते हो हम बुद्धि को ही लीन करते हैं कब बुद्धि जब लीन होगी तो किसी न किसी अस्तित्व को लेकर के ही बुद्धि लीन होगी कि किंतु गगनम अस्थि वायु के लीन होने का स्थान गगन है है ना बोले आकाश भी नहीं है कठी के आकाश नहीं है परंतु हम अस्मी बुद्धि आकाश को अपनी सत्ता में लीन करके सो जाएगी और फिर उठेगी सर्वथा अस्तित्व प्रत्यय से रहित प्रत्यय होते ही नहीं बुद्धि होती ही नहीं घटासन घट में एक सत्ता इसी से वही जो बुद्धि में सत्ता लीन है ना जब सो करके उठते हैं तब जो पदार्थ दिखता है उसमें कहते हैं आकाश है आकाश है वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी है सत्ता से व्यतिरिक्त बुद्धि नहीं होती और बोले भाई वो सत्ता कौन सी है है ना जो बुद्धि में रहती है अब ये बुद्धि और सत्ता का अलगाव करो तो सत्ता मात्र बुद्धि रहे कि बुद्धि मात्र सत्ता रहे तो विलक्षण आपको ये चार बाग कहता है कि बुद्धि से ही बुद्धि सत्ता सत्ता में लीन बुद्धि नहीं बुद्धि से जड़ से चित्त की उत्पत्ति होती है ऐसा चार बाग कहता है जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है ये दृश्य से जैसे दृश्य के संस्कार से अंतकरण बनता है ना ऐसे हो अंतकरण बनता है ये तो देखी हुई बात है द्रव्य से अंतकरण की उत्पत्ति हुई ये चार चारदाक मत है और अंतकरण विज्ञान रूप है किंतु क्षणिक है काल में अंतकरण की उत्पत्ति होती है और नष्ट होता है ये बौद्ध मत है हो हाँ। और देश में चेतना घूमती रहती है कभी मर्तलोक में और कभी सिद्ध शिला में है ना सत्त द्रव्य को पकड़ करके सत्त काल में ये चेतना देश विशेष में देशाश्रित है चेतना ऐसा जन जैन मत है कालाश्रित है चेतना ऐसा बौद्ध मत है और द्रव्याश्रित है चेतना ऐसा चारवाक मत है विवेक करके आपको है ना तो कालाश्रित होने से स्वयं सत्ता रूप नहीं है चेतना इसलिए शून्य है इसलिए शून्य है और क्षणिक है तो शून्यवाद और विज्ञानवाद ये दो बौद्ध मत हो गए और पृथक पृथक चेतना जो है वो देश में मच्छर की तरह जुगनू की तरह उड़ती रहती है है ना और भारवती होगी भारवती चेतना होगी तो नीचे जाएगी और निर्भर चेतना होगी तो ऊपर जाएगी इसलिए सम्यक चारित्र सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि होने पर चेतन की ऊर्ध्वगति होगी है और वासना रहित होने पर है ना ज्ञान जो है वो ज्ञान का पृथक समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा निर्माण हो जाएगा और मरने के बाद मरने के बाद अंतकरण जड़ में लीन हो जाएगा ये तीन मत हो गए एक बात एक बौद्ध और एक जैन अब जरा आपको ये सदनगत बुद्धि यदि बुद्धि को यही अनुभव कभी हो जाए कि कुछ नहीं है तो जब बुद्धि जागेगी तो उसको ये अनुभव होना चाहिए कि आकाश कुछ नहीं है वायु कुछ नहीं है अग्नि कुछ नहीं है जल कुछ नहीं है पृथ्वी कुछ नहीं है गड़ा कुछ नहीं है हाँ। लेकिन बुद्धि तो लीन होकर जब उदय होती है तब कहती है आकाश है वायु है तो ये क्यों ऐसा होता है हमारी नानी है नाना है जैसे सो के हम उठते हैं तो नानी जिंदा हो और सो गए हैं तो उठ के क्या बोलेंगे कि नानी है है ना और नानी अगर मर गई हो तो उठ के बोलेंगे कि नानी मर गई है तो यदि कार्य का कारण में लय हुआ बुद्धि का अपने कारण में लय हुआ तो वहाँ बुद्धि आकाश है वायु है ये लेकर के डूबी हुई होगी तब तो निकलने पर बोलेगी कि आकाश है वायु है सबको ही सुसुप्ति से उठने के बाद ये अनुभव होता है कि आकाश है वायु है इसका अर्थ है कि वायु बुद्धि जो है वो अनभिव्यक्त होने पर भी बुद्धि सो जाने पर भी अस्थि भाव से शून्य नहीं होती वहां भी बीज रूप से अस्थि भाव रहता है तो यदि मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव करके बुद्धि सोवे तो उठने पर बोले कि मैं नहीं हूं और मैं हूँ ऐसी सत्ता को लेकर के यदि बुद्धि सोएगी तो उठने पर बोलेगी कि मैं हूँ लेकिन लोगों की प्रतीति क्या है लोगों की प्रतीति तो यही है कि मैं हूँ है इसलिए बुद्धि का नाश होने पर भी लय होने पर भी बुद्धि का कारण में लय होने पर भी सद्भाव का नाश नहीं होता अब ये सद्भाव चेतन से अलग है सत से अलग चेतन है कि चेतन से अलग सत है कि सत और चेतन दोनों एक है है ना उपलब्धि और वस्तु इनमें पार्थक्य होता है कि नहीं होता है अब इस प्रसंग को कर लेंगे हो ओम सहना तो